आप कह दें कि हमें हर किस कुछ नहीं पहुंचेगा मगर जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए लिख दिया वही हमारा मालिक है और लाजिम है कि अल्लाह ताला ही पर ईमान लाने वाले तवक्ल करें